रघु तुरत फिरे रघुवीरा सोह साफ कर कटि तुमीरा गिरा सुनी जब सी का लक्ष्मण सन परम सविता बेगी संकटयति भ्राता लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता के विलास सृष्टि लय होई सपन हूँ संकट पर किशोई मरम बचन जगती का बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला बन दिशि देव सौंप सब काऊ चले जा रामण ससुराऊ सुन गीत दस कंधर देखा

नींद दिन अन्न न खाई तो दशीष स्वान की नाई उचित चला बड़ी आई पंथ पग देत खगेशा न तेज तन बुद्धि बल लेता नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय दिखाई वचन दोस्ती की नाही तब रामन निज रूप दिखावा सभय जब नाम सुनावा सागर वीर जुगाड़ा आई गय प्रभु रहु खल ठाड़ा दिन हर बदई शुद्ध सस चाहा

मन मऊ शरण बंदि सुख गोदवंत तब रावण सिरत बैठाए कला पथ आतुर भैरथ हाँ न जाए दंड कारण से मारी स्वर्ण मृग बन करके आया सीता जी ने उसकी खाला चाही और भगवान राम उसके पीछे दौड़े और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गए उसके साथ वहां पर भगवान ने फिर को बाघ मारा तो हिरण के बजाय लोगों को मारी का असली रूप था वो प्रकट हो गया और वो जो लक्ष्मण का नाम लेकर के लाया उसे लक्ष्मण बताओ उसके बाद अपने मन में उसने भगवान का नाम ले लिया भगवान राम ने देखा कि उसके मन में भक्ति है अपने प्रति प्रेम है इस भक्ति को देख करके भगवान ने उसको तो मुक्त कर दिया अपना पद प्रदान से कर दिया और उसके बाद उसको मार करके छोड़ करके चले आए मैंने अब कोई मृगसर उनको कोई हाथ लगना नहीं था वो तो सपटता ही था वो तो हाथ आया नहीं वो एक निशाचर था तो भगवान ने उसको मार दिया भगवान का काम निशाचर को मारना था तो निशाचर बद हो गया अब स्वर्ण का मृगचर्म भगवान को तो जरूरत थी नहीं और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं कोई था भी नहीं इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं रहा खत्म बात हो गई अब भगवान बस खाली हाथ वहां से लौट करें अब देखो भगवान चलने जो खल बड़ी तुरंत फिरे रघुवीरा बस भगवान राम वहां से तुरंत चल दिए अब तुरंत अब एक कारण तो ये कि उसकी खाल वाल तो नहीं थी और यह उसको खाना उठाना था नहीं इसलिए कोई देर की बात ही नहीं वो तो उधर मरा नहीं कि भगवान राम चल दिए और दूसरी बात ये भी हुई कि वो लक्ष्मण करके जो चिल्लाया तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण क्यों चिल्लाया क्या बात है चल करके जल्दी देखना चाहिए तो भगवान जल्दी जा करके लौटने के भी की लौट करके जहाँ लक्ष्मण जी है सीता जी है वहाँ जल्दी चलना चाहिए इस विचार से चलिए लेकिन एक बात आप ध्यान देखो कि खल बड़ी तुरंत फिरे रघुवीरा एक खल को मार करके भगवान लौटे लेकिन उसका क्या हो गया था निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ यद्यपि वो खल को भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया मुक्त हो गया तो भी भगवान खल बच गए अब देखो अब इसको क्या तात्पर्य अब उसको तुम ऐसे तो कहना चाहिए अरे उस मुक्त को कर साकर हो गया मुक्त तो मुक्त तो बड़े बड़े ऋषि नहीं होते उनसे भी महान है वो तो खलबल कहाँ रह गया वो ऐसा करके कुछ बोलना चाहिए था उसको खल क्या कहीं जो मुक्त हो गया लेकिन फिर भी उसको खल करते हैं अपने समाज में या शास्त्रों में लोक और वेद की नीति ये है कि समाज में व्यक्ति की निंदा स्तुति उसके आचरण के ऊपर होती है जैसा व्यक्ति दिखाई देता है वैसे ही वो माना जाता है अपने अंदर से चाहे वो हो बड़ा ही महात्मा हो सिद्ध पुरुष हो ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाला हो तो उसे कोई उस बात को कोई संसार देखता नहीं कोई व्यक्ति की अपनी आंतरिक स्थिति है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है तो वो मुक्त है जीवन नहीं मुक्त है जीवन मुक्त है शरीर छोड़ के भी विदेह मुक्त है उसमें कोई संदेह नहीं लेकिन समाज के लिए वो हो अगर उसका आचरण ठीक नहीं है तो वो दुष्ट है खल है अधन है नीच है इसी प्रकार से प्रसिद्ध होता इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए यश कीर्ति जो व्यक्ति को प्राप्त होती है वो उसके आत्मज्ञान के आधार पर नहीं होती कि व्यक्ति आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है उसकी यश कीर्ति हो यश कीर्ति उसके आचरण से होती है शुभाशुभ कर्मों से होती है ये व्यक्ति का अपने सधर्म का पालन करता है सामान्य धर्म का पालन करता है भौतिक सुख तस्वीर इसका ये जो है अब भी निंदनीय एक बात तो ये कुछ लोगों का मत इस प्रकार का है कि भगवान जब किसी को मारते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं मारते हैं उसके दोषों को नष्ट करते हैं तो मारीच का जो खलक तो था उस खल को मार दिया अब मारीच खल नहीं रह गया इसलिए खल बद फिरे उस शिष्यों को मुक्त कर दिया तो उसका जो खल का खलक तो था वो भी खत्म हो गया और मारी से जो है मुक्त हो गया अब व्यक्ति में दो बातें है एक तो व्यक्ति विशेष है और दूसरे उसके दुर्गुण है या गुण है गांधी जी का जैसे कहना है कि दुर्गुणों से तो घृणा करो लेकिन व्यक्ति से घृणा मत करो व्यक्ति और व्यक्ति के दुर्गुण दो अलग बातें हैं ऐसा नहीं किसी व्यक्ति में दुर्गुण है तो व्यक्ति से घृणा करना किसी जो जितने भी दोष हैं दुर्गुण हैं उन वे तो जो दूर होने चाहिए उनको विनाश करने के लिए तो कोशिश करनी चाहिए लेकिन इसके माने ये नहीं कि किसी व्यक्ति को आप मार दो तो उसके दोष खत्म हो जाएंगे समाज में कोशिश ये करनी चाहिए कि दोषों का आनंद हो व्यक्ति जो है दोष बने रहे और आपने कुछ लोगों को मार भी दिया तो उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं इसलिए भगवान जिनका वध करते हैं उन खलों का वध करते हैं खल के माने व्यक्तियों का वध नहीं करते हैं खल के माने दोषों को विकारों को जो जैसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब विकार है ये दोष हैं इनका वध करते हैं भगवान कोई आत्मा का वध थोड़े करते हैं आत्मा तो भगवान का अपना स्वरूप ही है वो वो भी मालिक भी तो आत्मा स्वरूप है वो तो परमात्मा को भगवान को प्राप्त हो गया आत्मा रूप से और उसका जो खोल था उसके ऊपर दुष्टता का खलत्व का दुर्गुणों का वो उसके ऊपर से नष्ट कर दिया बिना उसका कर दिया उपनिषदों में आता है <clears throat> मुक्ति का वर्णन हैं जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ तो उपासना की विचार किया आत्मज्ञान हुआ वो उस व्यक्ति की क्या गति होती है कहते हैं कि जैसे कि सांप अपनी केसे छोड़ देता है और उसको छोड़ करके चला जाता है इसी प्रकार के शुद्ध आत्मा जो तीन शरीरों से आवृत है और नाना प्रकार के पापों से वासनाओं से आवृत है उनको केतु की तरह से छोड़ देता है और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है तो बद्ध क्या है जो अनात्मा है या विकार हैं या वासनाएं हैं या काम क्रोधादि विकार हैं ये बद्ध हैं यही मारे जाएंगे और इन्हीं को मारना भी अपने अंदर भी इन्हीं का विनाश करना है लेकिन अपनी आत्मा को थोड़े मार लेना है वो तो अजन अमर है वो तो वास्तव का अपना स्वरूप है इसलिए आत्मभाव को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करने तुलसीदास जी की बुद्धि में सदा ये भाव स्पष्ट रूप से रहता है उसी प्रकार से शब्दावली उनकी निकलती है जहाँ कहीं मुझसे जो कुछ बोलते हैं तो वही बात निकलती है तो कहते हैं कल बनी तुरंत तेरे रघुवीरा और सो चाप कट कर कहीं लीरा और भगवान जो है वो हो उस समय बड़े सुशोभित हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं तुलसीदास जी को कभी तो देखो धनुष बाण लिए हुए हैं कमर में चूड़ी करते हुए हैं ऐसे भगवान जो है साक्षर को मार करके चले आ रहे हैं ऐसे सुंदर लग रहे हैं हाँ? कहते हैं आरत गिरा सुनी जब सीता अब इधर क्या हुआ अब भगवान तो चले आ रहे हैं अब आने दो वो तो बहुत दूर निकल गए तो लौटते लौटते दिन लगेगी आने में तब तक इधर क्या हुआ सब देख लो कहते हैं यहाँ क्या हुआ कि आर्त की राशि जब सीता जब उसने मारिश ने बुला के हे लक्ष्मण बचाओ हे लक्ष्मण बचाओ ऐसे जब वो चिल्लाना तब ये आर्त गिरा हुई मैंने बचाओगे दुख की पीड़ा की आवाज जब भरी हुई आवाज लक्ष्मण का नाम जब सीता जी ने इधर अपनी कुटिया से सुना तो कहा लक्ष्मण सन परम सभीता तो सीता जी डर गई सीता जी को तुरंत ध्यान इस तरफ गया कि कहीं भगवान राम ही लक्ष्मण को सहायता के लिए बुला रहे हैं नहीं तो कोई और दूसरा होता तो कोई लक्ष्मण को क्यों बुलाता सहायता के लिए अब आवाज हालांकि उसकी थी मारी थी लेकिन उसने भी आवाज अपनी बना के कपट पूर्वक जैसे भगवान राम ही बोल रहे हो ऐसी आवाज उसने बोली और दूर की आवाज में ये भी नहीं सुन रहा है भगवान राम की आवाज किसी दूसरे की आवाज है ये सीता जी को पता ही नहीं चला इसलिए उन्होंने यही अनुमान लगाया कि लगता है कि भगवान राम के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है इसलिए जो है वो चिल्ला रहे हैं लक्ष्मण को सहायता के लिए बुला रहे हैं तो भय के कारण से सीता जी कहती है जाओ देवी अति भ्राता तो सीता जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जाओ दौड़ के तो जल्दी पहुंचो जा करके तुम्हारे भाई के ऊपर संकट आ गया है अब देखो अपनी भारतीय संस्कृति की शब्दावली भी अपनी अलग है पश्चिमी से यहाँ पे सीता जी जब लक्ष्मण जी से ये कहती हैं कि जाओ वेग बहुत जल्दी जाओ संकट किसके ऊपर अतिभ्राता तुम्हारे भाई के ऊपर संकट है वो ये नहीं कहते कि मेरे पति के ऊपर मेरे हस्बैंड के ऊपर बड़ा संकट आ गया है आप जाओ जरा जल्दी सहायता करो जाके पश्चिमी विधि दूसरे प्रकार की और वो भी अपना तर्क दे करके सार्थकता कह सकते हैं कह सकते हैं कि भाई वे लोग जब भारतीय संस्कृति की आलोचना करते हैं तो ये कहते हैं ये कौन सी बात है अरे भाई नाम तो दुश्मन का नहीं दिया जाता अपने पति का नाम लेने में क्या हर्ज है पति तो अपना है स्त्री है उसका नाम लो कोई दुश्मन थोड़ा है लेकिन यहाँ ये है कि जो आदरणीय व्यक्ति हैं अपने पूजनीय हैं उनका नाम नहीं लेते यहाँ विधान ये बना और यहाँ के बोलने का तरीका देखो सीता जी इस प्रकार देखेंगे तुम्हारे भाई के ऊपर संकट आया हुआ है तुम दौड़ो या उनकी सहायता करो तो जाओ वेद संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेहस कहा सुन माता लक्ष्मण जी हंसे और हंस करके कहने लगे कि सुन माता अब सीता जी को माता करके मानते ही हैं माता ही करके संबोधन भी करते हैं देखो लक्ष्मण जी कहीं सीता जी को भाभी करके नहीं देते कि भाभी जी क्या बताऊं मैं लक्ष्मण जी उनको जो है वो माता ही करके और इन्हें इनकी लक्ष्मण जी की माता ने खुद ही कह दिया था कि तुम जाओ राम जी के साथ में और सीता जी के साथ में राम तुम्हारे पिता हैं और सीता जी तुम्हारी माता हैं सुमित्रा ने यही कहकर के इनको बन भेजा भी था तो वो भाव उसी प्रकार का था भी पहले से भी लक्ष्मण का माता ने और कर्तन कर दिया और बाद में भी सदा मातृभाव से उनको देखते रहे और इस समय भी जबकि लक्ष्मण जी और सीता जी वहां पर वही हैं भगवान राम नहीं है तब लक्ष्मण जी उनको माता करके ही बोलते हैं कहते हैं लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण ने बेहस कहा सुन माता अब देखो बेहस का भी एक कारण है कि लक्ष्मण जी हैं हंस करके सीता जी से कहने लगे हंस के कहने के माने ये है कि देखो ये सबकी सब लीला हो रही है और ये सब विचित्र बातें हो रही हैं सोने के मृग के पीछे भगवान राम दौड़ रहे हैं तुम्हें सोने के मृग अच्छा लग रहा है और अब ये कहो कि उनके ऊपर भगवान राम के ऊपर संकट आ रहा है तो ये तो सब जिन लोगों को भ्रांति हो माया में हो उन्हीं को ऐसा लगेगा हम तो सीधा सीधा से जानते हैं कि ये भगवान राम तो परब्रह्म परमात्मा है देवादिदेव हैं जिनकी के भ्रगुट विलास से मैंने भवन जरा की तिरछी करने से कहो तो तमाम बड़ी भारी सारी सृष्टि की रचना हो जाए और कहो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाए भ्रगुट विलास सृष्टि लय हुई सृष्टि की रचना हो जाए और सृष्टि का विनाश हो जाए और सपने संकट परे की सोई और वो तो निर्लेप निर्विकार अखंड एक रस अनंत परमात्मा है उनके ऊपर कौन सा कौन सा उनके ऊपर संकट पड़ सकता है क्या उनके साथ विपत्ति आ सकती है क्या उनका भाग बिगड़ सकता है कि हमारा तो पक्का विश्वास इस प्रकार का है तो ये बात उन्होंने अब सीता जी के मन में आ गए कि भगवान राम के ऊपर संकट आ गया है तो ये हंसी की बात लक्ष्मण जी को लगी देखो भगवान राम के ऊपर संकट आ सकता है तो उन्होंने ऐसे करके हंस करके प्रकार हमारे लक्ष्मण जी ने संकट को कोई संकट करके नहीं माना कि संकट हो ही नहीं सकता इसलिए संकट की कल्पना करके क्या कर रहे हैं उसमें लेकिन जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से बोला तो सीता जी क्या करती है सीता जी थोड़ा सा जो है वो डांट फटकार करने लगती है लक्ष्मण कहते मरण वचन जब सीता बोला सीता जी ने उनको जो हो वचन कह दिए मरण वचन मैंने ऐसी बात कुछ कह दी जिससे कि लक्ष्मण जी के हृदय में चोट लगी वचन से कहते हैं जिसको कि सुनकर के कोई व्यक्ति जो आहत हो जाए करे आहत उसको बात तो वो सुनकर के तो कुछ बात सीता जी ने ऐसे कह दी क्या कह दी क्या ये कोई जो ऐसी बातें हैं किसी को कहने से किसी के दूसरे में कष्ट लगे क्या जरूरत कहने की उनको बताऊ मैं आपको समझ लो कुछ कह दिया इस प्रकार से जिससे उनको इस प्रकार से कष्ट हो गया और बहुत ही आपको लगे नहीं है बताओ क्या कष्ट हो गया और क्या कह दिया क्या कह दिया तो भाई जाओ वाल्मीकि रामायण इसीलिए है फिर आप उसको जा करके आप उसमें देखो लक्ष्मण जी ने क्या कह दिया वहां सब लिखा मिल जाएगा यहाँ तो सब समाज है हम लोगों को गंदी संदी बातें नहीं करनी है यहाँ शांति से प्रेम पूर्वक भगवान की गुणगाथा गानी है कोई <clears throat> ऐसी बातें थोड़ी करनी है कि लक्ष्मण जी ने कोई गंदी संदी बात वहाँ कुछ कह दी तो उसका भी वर्णन करने लगे इसलिए कहते हैं कि मर्म वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला तो एक तो सीता जी ने इस प्रकार का वचन बोला और दूसरा हर प्रेरित भगवान की भी इच्छा हुई कि लक्ष्मण जी जो है तुम इस लीला में तुम भी सहयोग करो ये लीला कपट मृग ये भी लीला है और भगवान राम का उसके पीछे दौड़ना मारना निशाचरों के बद की लीला है वो भगवान राम भी कर रहे हैं और लक्ष्मण जी से प्रेरणा हुई उनके कि तुम भी इस लीला में भागीदार बनो और सीता जी को सबको सबको इस लीला में भाग लेना है तीनों लोग आए ही तीनों अपना अपना पाठ करें ये होना चाहिए इसलिए ऐसी कुछ प्रेरणा हुई तो लक्ष्मण जी का भी मन डोल गया डोल गया क्या डोल जाने की माने ये कि अगर सीता जी कहती तो चले हो जाते हम्म? आप बहुत नाराज होती हो आप कठवचन बोलती हो तो चलो जाते हैं क्या आज्ञा का पालन करना वो भी तेल धर्म है तो कहते हैं कि हर प्रेत लक्ष्मण मन डोला बन जस देव सौंप कर सब काबू अब जब लक्ष्मण जी चलते हैं तो भगवान की आज्ञा का भी पालन पूरा करके चलते हैं भगवान राम ने कहा था कि देखो हम तुमको छोड़े जाते हैं सीता जी की रक्षा रक्षा के लिए सीता के रिकल रखबारी बुद्ध विवेक बल समय विकारी लक्ष्मण जी ने पूरा ध्यान रखा उसका और यद्य अभी तक तो रखवारी करते रहे बुद्ध विवेक के साथ में लेकिन अब जो सीते ही नहीं चाहती क्या वो वहां रुके उनको वहां से जहाँ भगवान राम ने भेजना चाहती है तो जब अपने व्यक्तिगत रूप से वहाँ टिक नहीं सकते उनको शरीर से अपने जाना पड़ रहा है दूर दूर तब वहाँ अपना बुद्ध विवेक और लक्ष्मण जी क्या लगाते हैं अब देखो लक्ष्मण जी ने अपने बुद्ध भी लगाई अपना विवेक भी लगाया अपना बल भी लगाया ये सब लगा लू करके सीता जी की काफी सुरक्षा करके तब लक्ष्मण जी वहां से चलते हैं बन दिश देव सबका सबकाहू बनदेव को दिग्देवों को इन सब देवों इनको सबको सौंप करके सीता जी को चले उन सबसे कहा कि तुम सीता जी की तुम रक्षा करना बनदेव से कहा कि तुम सीता जी की रक्षा करना दिग देवताओं से कहा कि तुम सीता जी की रक्षा करना मुझे जाना पड़ रहा है हम्म। अब यहाँ पे एक बात और नहीं कही तुलसीदास तो जी आगे चल करके कहेंगे तो जब मंदोदरी के मुख से सुनेंगे कि लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने अपने बल का भी प्रयोग किया ये तो विवेक की बात थी बुद्धि की बात बल का प्रयोग ये किया तो उन्होंने अपने धनुष की नोक से बाण की नोक से उनके जहाँ सीता जी थी उनके चारों तरफ उसके एक लकीर खींच दी हाँ? और घेरे के भीतर सीता जी को छोड़ दिया और सीता जी से कहा कि माता आप तो अपने पुत्र जा रहे हैं जहाँ भगवान राम ने आप इसी के अंदर रहना बाहर मत निकलना ऐसे कह करके लक्ष्मण जी चले और लक्ष्मण जी ने ये निश्चय कर लिया कि इस रेखा के भीतर यदि कोई आएगा तो वो जल जाएगा वो जीवित नहीं बच सकता अग्नि उसे जला देगी बस ऐसा करके निश्चय करके लक्ष्मण जी इतना लक्ष्मण जी का बल था किसी रेखा के भीतर कोई आ नहीं सकता था सीता जी को छू नहीं सकता ये उन्होंने अपने बल का भी प्रयोग कर दिया और चले गए और चले जहाँ रावण शशि राहु और लक्ष्मण जी वहां चले जहाँ रावण शशि राहु था मैंने जहाँ भगवान राम थे रावण शशि राहु कौन है रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान और कौन है भगवान राम है वहां जहाँ भगवान राम थे वहां चल दिए लेकिन रावण से चढ़ा क्यों कहा इसलिए क्यों कहा कि देखो रावण के बद के लिए पूरी भूमिका तैयार हो गई अब लक्ष्मण जी का वहाँ जाना और सीता जी का हरण मानो समझ लो लक्ष्मण का रावण का बध हो गया हम्म, अब कोई देर नहीं है अब वो जैसे राहु और चंद्रमा होते हैं जिस पूर्णिमा के जब तक चंद्रमा होता होता है तब तक राहु भी अपनी गति से घूम करके चंद्रमा के सामने आकर के उसको घस लेता है अब चंद्रमा को राहु के लगने के लिए उतनी ही देर है जितनी की पूर्णिमा अब है बस वैसे राहु अपनी चाल से अपनी गट से चला रहा है और उधर चंद्रमा भी पूर्णता की तरफ चला जा रहा है ऐसे भगवान राम भी अब दंडकारण के पास आ गए अब लंका में पहुंच करके रावण का विनाश निकट आ गया और रावण भी उसके लिए सीता जी को ले जा करके अपने अंतकाल के लिए अपने समय के विनाश के लिए उसकी भी तैयारी करते हुए अपनी अति को पहुंच रहा है बस ऐसे भगवान श्री राम जी के पास लक्ष्मण जी चल दिया सुन बीच दस अंदर देखा और कहते हैं कि इस, इस जब लक्ष्मी चले गए अब वहाँ क्या होता जहाँ सीता जी थी तो कहते हैं कि सूर्य नदी को दस कंदर देखा दस कंदर माने रावण ने देखा कि अब अब सन्ना था अब चले गए इसके माने वो वहीं से कुटिया से थोड़ी दूर पर ही खड़ा खड़ा वो छिपा हुआ कहीं पेड़ों में देख रहा था कि देखो राम के तो अभी तो ये कपट मृग बना और उसने देख लिया भगवान राम उसके पीछे भगे जा रहे फिर उसने देखा कि अब लक्ष्मण जी भगे चले जा रहे हम्म? साधु समझ गया कि अब यहाँ पर कोई कुटिया में नहीं है यहाँ पर अकेली सीता जी हैं बस जैसे उसने देखा तैसी कुटिया में आकर के जहाँ सीता जी थी आतम का सुन बीजत सकंदर देखा आवा निकट जती के बेसा जब वहाँ पास आया तो जति का वेश धारण करके आया जति मैंने सन्यासी का वेश धारण करके वो सीता जी के पास भिक्षा मांगने के लिए आए अब वहाँ पर ये विश्वसनीय बात यही हो सकती थी कि आसपास बहुत महात्मा लोग रहते थे दंडकारण में तपस्या करते रहते थे अपने तो उन्हीं में से सन्यासी लोग भी थे तो उसने सोचा कि सन्यासियों की ये सब बड़ी रक्षा करते हैं उनकी बड़ी सेवा में लगे रहते हैं बड़ा सत्संग उनका होता रहता है तो ये सब सन्यासियों के ऊपर विश्वास करते हैं और सेवा भी करते हैं इसलिए सन्यासी बन करके चलो तो ये हमारे ऊपर विश्वास कर हैं इसलिए इस प्रकार से चले देखो ये शास्त्र ये भी बताते हैं कि जहाँ कहीं भी व्यक्तियों को महिमा दिखाई देती है महानता दिखाई देती है तो अन्य लोग कपट पूर्वक वही रूप धारण करते हैं यदि होते नहीं है हम्म? अगर किसी को पता लगे कि ये कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति है और विद्वान का बड़ा आदर सत्कार हो रहा है तो वो विद्वान विद्वान नहीं होगा तो भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का रख रखा करके और कुछ न कुछ विद्वान बनने के तहत बनेगा और चाहेगा कि वो भी विद्वता विद्वानों के बीच में आदर्श पात्र बने गांधी जी ने शुरू किया राजनीति गांधी जी की राजनीति लोक कल्याण के लिए थी उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए लगाया समाज सेवा के लिए लगाया और राजनीति का प्रयोग जनता की सेवा के लिए और एक प्रकार की अपनी धार्मिक आध्यात्मिक साधना के रूप में राजनीति को अस्त्र बनाया अध्यात्म के माने व्यक्ति समाज सेवा में स्वार्थ रहित होकर के लगे और उन्होंने राजनीति के द्वारा ये कार्य हम भली भांत कर सकते हैं इस प्रकार से करना शुरू किया तो उन्होंने एक प्रकार से राजनीतिक सन्यासी तैयार किए और उनकी एक अलग ड्रेस बना दी हम्म। राजनीतिक सन्यासी कैसे हो गए खादी का अपने हाथ से कपड़ा बिनो और अपने हाथ से कुर्ता धोती पहनो और खादी की टोपी लगाओ सफेद और इस प्रकार से खादी के वस्त्र पहनो और गांधी टोपी के नाम से प्रसिद्ध हो गई सफेद टोपी उस प्रकार की टोपी लगाओ ये ड्रेस जो वो उस समय राजनीतिक सन्यासियों का ड्रेस थी और वे सबके सब लोग गांधी जी के सहित जो उनके निकट में थे सब लोग समाज सेवा के कार्य में देश की स्वतंत्रता के लिए और देश की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से लगे हुए तो सबने अपने अपने प्रोफेशन छोड़ दिए अपने अपने घर छोड़ दिए तमाम तकलीफ उठाई बड़ी समस्या की और ये सब इस प्रकार के कार्य में लग गए और हुआ ये कि समाज में उनका बड़ा आदर हुआ जहाँ देखो तहाँ उनको थोड़े दिनों के बाद में साथ जगह बड़ा आदर सत्कार हर व्यक्ति का होने लगा जहाँ देखो खादी के कपड़े पहने हुए हैं उन्हीं को लोगों को समझने लगा ये तो महात्मा है ये तो बड़े महापुरुष हैं इन्होंने तो अपना सारा जीवन देश के लिए दे दिया है अब जहाँ उनका बड़ा सम्मान होने लगा वहां दूसरे लोगों ने क्या किया कहा क्या सम्मान प्राप्त